सुर हरि करनी बाप प्रियागा बालनी तो कब मिलन बखाना चित्रकूट जिन दस भगवाना पतिवागमन नगर मरना बहुगणना करियतिया संयपुरवासी भर विजया प्रभु सुखरासी रघुपति बहु दीदी समझाए पादुकाय वदपुर्याय भरतरामतोपतिसुतकर्णी रघुवरुवा त्रिदेशि पुलिवर्णी कवि विराज

भगवान का अवतार किस प्रकार से हुआ कैसे उनकी बाल लीलाएं हुई कैसे थे उनका विवाह बात हुआ उसका वर्णन करने के बाद में क्या क्या वर्णन करते हैं वो सब बताते हैं ये एक प्रकार से विषय सूची बन गई कथा की कितने कितने क्रम क्या कथा का है कितनी किसी कथा के जो मुख्य मुख्य भाग कौन से हैं प्रसंग कौन कौन से हैं उन सबका उल्लेख यहाँ पर हो जाता है ऐसे ही गोस्वामी ने तीन बार संक्षेप में सब कथा कही राम से मानस में एक बार तो शरीर के वर्णन के रूप में कही और दूसरी बार जब पार्वती जी ने शंकर जी से उस कथा के संबंध में प्रश्न किया और पार्वती जी ने सब बताया कि पहले अपने ये बताइए भगवान का अवतार कैसे हुआ कभी उनकी बाल ले कैसे हुए तो कैसे हुए कैसे हुए ऐसे करके उन्होंने पूछा उस प्रकार से फिर दो बार हुआ और तीसरी बार फिर यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि कथा का क्रम किस प्रकार से बनता है तो जितना इस प्रसंग में स्पष्ट रूप से है उतना उन दोनों स्थानों में नहीं है शरीर के रूप में जब वर्णन किया है तो भी कुछ प्रसंगों का नाम दिया है कुछ का नहीं दिया है और पार्वती ने जो प्रश्न किए हैं तो भी कुछ स्त्रियों के प्रश्न किए हैं कुछ नहीं भी किए हैं लेकिन यहाँ पर यदि कथा का कृष्ण जी सुनाते हैं तो सुना कल्पना자들이 নেহি शकते হ্যায় কল্পনা করতে হ্যায় খবের কুয়া যে তুমি কথা অনেক করেছ কারণ এইখানে শব্দ ক্ষমতা আছে মানে কত এত কথা লাগে যে সব বন্ধুদের দেওয়াল করতে কিন্তু হলিনダイনেসجتماয়িক আন্তর্জাতিক নীতিতে বিভিন্ন চাপ কারণবিয়ে পুস্তক아서 শুনে কিভাবে কিভাবে কল্পনা করতে शकते अब ये देखते हैं कि जब भगवान श्री राम जी का विवाह होगा तो बहुत राम अभिषेक चंदा अब विवाह होने के कुछ काल के बाद एक दिन फिर तो महाराज दशरथ के मन में विचार आता है कि भगवान राम को विराज कर दे दिया जाए वशिष्ठ जी से जाकर के पूछते हैं तो वो उनको स्वीकृति देते हैं तो फिर उसकी तैयारी होने लगती है वशिष्ठ जी जाकर के राम जी को समझाते हैं कि कल राज्य अभिषेक होने का निश्चय किया जाए उसके लिए तुम इस प्रकार की तैयारी करो और सब प्रसंग उन्होंने कहकर करके सुनाया काकुशल न होगा रात में तो ये होता रहा लेकिन फिर हुआ क्या उसने कि पुण्य में वचन राजा भंगा और लेकिन दूसरे दिन जब भगवान राम उठे तो वहाँ अपराध को बलि मिला बन जाने की तैयारी हो गई तब पुलिस लघु नपुवचन राम महाराज दशरथ ने उनको बन जाने का आदेश दे दिया अब जैसे ही वरदान मांगना भगवान राम का बनने जाना वो सब पसंद आया उसी बीच में फिर तो इस प्रकार के देवताओं के मन में चिंता पैदा हुई और फिर सरस्वती को भेजा अयोध्या में उसने मंथरा की बुद्धि को किस प्रकार से चेक दिया मंथरा ने किस प्रकार से चेक दी तो बहुत पीछे पड़ करके उसकी भी बुद्धि को खराब किया और फिर उसने फिर प्रदान को मांगे उसने भरत को राज्य और भगवान नाम को चौदह वर्ष जाने का तो वही बात फिर महाराज दशरथ के द्वारा पूजन मालूम हुई भगवान राम को तो जाने की तैयारी होने लगी कहते जो राजरस था वो भंग हो गया राजरस के मैंने भगवान राम को जो राजा अभिषेक होने जा रहा था तो उसमें बड़ी तैयारियां हो रही थी नगर सजाया जाने लगा रात भर नगरवासियों ने नगर सजाया तो बाजे बजे खूब उसको जो है तैयारियां सबको प्रसन्नता करना हुई लेकिन सवेरे देखा कि महाराज तो सब कहीं उठ करके नहीं निकल रहे हैं राजभवन से नहीं आ रहे हैं तो इसलिए पर रूप धूप निकल जाएगा आज हमें बड़ा आश्चर्य लगा हमेशा के पहले से वो इसलिए गए उठ जाते थे बहुत जल्दी हो गए पहले ही और आज देखो इतनी देर हो गई अब भी नहीं उठे बस वहीं से चिंता एक जयवासी हो गई और बस फिर बाद में पता चला कि भगवान राम को तो बन जाने के लिए आदेश हो रहा है तो वो सब में कर ग्रह विषादा तो वो प्रवासी लोग सब ग्रह के विषाद में दुखी होने लगे भगवान राम जा रहे हैं ये बड़े दुखी की बात है सब दुखी हो भगवान राम को तो मालूम हो गया कि तुम जाने की तैयारी हो तो वो जाने की तैयारी करने लगे तब तक फिर उन्होंने सीता जी का पता चला तो सीता जी के साथ जाने की तैयार हुई तो वहाँ सीता जी के साथ भगवान राम का वार्तालाप हुआ समझाया भगवान ने बहुत राम सीता जी को सीता जी नहीं मानी साथ दिल्ली को तैयार हुई तो उनको लेकर के जब चलने लगे तब तक लक्ष्मण भी आ गए तब यहाँ पे कहते हैं कि लक्ष्मी जी के संवाद बताई राम लक्ष्मी संवादा भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में संवाद हुआ लक्ष्मण भगवान राम ने लक्ष्मण को धर्म और गीत की शिक्षा दी और कहा कि जैसे यहाँ महाराज दशक बहुत जाते हैं भरत बन यहाँ है नहीं राज्य व्यवस्था का धर्म तुम्हारे ऊपर आता है इसलिए तुम उसकी व्यवस्था करो तुम नहीं रहो बहुत अच्छी शिक्षा थी भगवान राम ने उचित शिक्षा उसमें दी लेकिन लक्ष्मण जी ने कह दिया कि नीति धर्म प्रदेश आई तीरथ बुद्ध सुबह प्रिय जाए अरे जैसे दुनिया भर के ये भौतिक सुख संपत्ति चाहिए हो कीर्ति चाहिए हो स्वर्ग चाहिए हो उसके लिए आप ये धर्म नीति का उपदेश करें हम तो आपके शरण में है आपकी कर्मों की सेवा में है हमको मकान चाहिए नीत चाहिए और न हमें ये सब <coughs> ये स्वर्ग आदि जो है इनकी इच्छा भी हमको नहीं है हम तो आप ही की शरण में है तो लक्ष्मण जी किस प्रकार से <coughs> जब बात सुनी कि किस प्रकार से अनन्नता है और उनका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं तब भगवान ने फिर लक्ष्मण जी को साफ करने की आदेश की तो वो बता दिया यहाँ कई राम लक्ष्मण संवादा और विपिन लोन केवट अनुरागा और फिर लक्ष्मण जी सीताजी भगवान राम ये सब बन के लिए चल देते हैं तब फिर महाराज दशरथ मंत्री जी कहते हैं सुमंत्र से जरूरत लेकर के इनको जाओ और बन में दो चार दिन घुमा करके ले आओ वापस वन गमन का कार्य हो जाएगा इस प्रकार से तो सुमंत्र उनकी बात को मान करके भगवान राम को रथ बैठा करके दक्षिण दिशा करने तरफ ले चलते हैं अयोध्यावासी उनके पीछे चल देते हैं रास्ते में रात में जहाँ ठहरते हैं वहाँ पर फिर अयोध्यावासियों को वहीं सोता हुआ छोड़ करके रात में भगवान अपने रूप में बच करके आगे निकल जाते हैं और संगमेरपुर जा पहुँचते हैं वहाँ पर संगमेरपुर जी बात पहुँच के तब बताते हैं कि वहाँ विपिन गमन केवट अनुरागा अपने संगमेरपुर में जब को मिलता है अभिषाक रात अभिषाक राज का भगवान से वार्ता होती है वो उनका स्वागत करता है चलने की व्यवस्था करता है दूसरे दिन भगवान सवेरे उठ करके फिर गंगा जी के पार चल देते हैं तो उस समय केवट से नाव मांगते हैं केवट आता है नाव लेकर के भगवान उसे बुलाते हैं लेकिन नाव लेकर के आता नहीं मांगी नाव न केवट आना देखो हैं केवट नाव लेकर के आओ नाव लेकर के आता नहीं अब वो बहुत कहने पर तो समझाने बुझाने पर तब नाव लेकर के आता है तो एक शर्त रखता है कहता है कि भाई हम बिना आपके कर्म हुए बिना आपको नाव में नहीं बैठा लेंगे नहीं तो क्या पता कि आपके पैरों की धूल छू जाए तो हमारी नाव ही कहीं जो है वो हो स्त्री बन जाए अरे आपके पत्थर पैर छूने से पत्थर में स्त्रियां बन जाते हैं तो नाव तो उसके भी कोमल है शक्ति ज्यादा कठोर तो है नहीं ये तो बहुत जल्दी बन सकती जरा से छोटे बन जाएगी ऐसे करके उसने भगवान को बहाना बना करके उनका कान पखारने के लिए उसने आग्रह किया तो भगवान राम समझ गए जैसे बहाने वाली बातें हैं ये होना चाहता है सिद्ध करवा तो अच्छा भाई कुमार जो समझ कर लो तो उसमें पहले भगवान किसान हुए और भगवान को गंगा जी के पार उतारने से पहले उसने अपने सारे परिवार को जितने पुरखे लोग मर गए उन सबको जब तार लिया उसके द्वारा उस जल के द्वारा तब कहा कि हाँ अब उतार देंगे ऐसे करके उसने फिर गंगा जी के पार भगवान राम के नाम पर धार किया अब उसके बाद भगवान राम और सीता जी सोचने लगे इसके को क्या दिया जाए इसने इतना कार्य किया हमको पार उतारा है तो इसको कुछ लोग किसी का जी ने कहा करके अपनी उठी उनको दी भगवान राम को भगवान राम उसको देने लगे तो उसने ली नहीं उसने लिया क्या उसने जो लेना था वो पहले ले लिया मजदूरी जो पहले ले ली तो बाद में दोबारा स्वीकार कर दे अगर वो समय अंगूठी स्वीकार कर ले तो वो जो पहले वाला फल था वो बेकार चला गया हाँ, सब कितने लोगों को उतार कर लिया पार उतार लिया वो फिर वो सब बेकार हो गया इसलिए उसने कर्म की इस प्रकार आपने कहते अनुराग उसका केवट का जो है वर्णन किया जितने जगन केवट अनुरागा और सुनकर उतर निवास त्यागा गंगा पार करके तो भगवान श्री राम जी जो है वो त्यागा पहुंचे त्रिवेणी ने स्नान किया और भरतदास जी के आश्रम में पहुंचे और उस रात में भरतदास के आश्रम में ही ठहरे इसलिए कभी निवास कर दिया सुनकर उतर के निवास त्यागा और बाल मीट प्रभु मिलन पखाना अपने प्रभाव से मिलकर के भरद्वाज जी तो से प्रभु से पूछा कि कहाँ जाए किधर जाए किधर से रास्ता है तो फिर उन्होंने भरद्वाज जी ने चार अपने सैनिकों को कर्मचारियों को भगवान राम के साथ भेजा कि इनको जाकर के रास्ता बताया तो वो सब लोग जाकर के भगवान को रास्ता बताने के लिए यमुना के किनारे तक पहुंचा करके आए और फिर वहां से भगवान यमुना पार हुए यमुना पार करके की तरफ से बागी बढ़ने लगे तो वाल्मीकि आश्रम वहां मिल गया तो वहाँ वाल्मीकि आश्रम में भगवान ठहरे तो कहते हैं क्या वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना फिर भगवान राम और वाल्मीकि मिले वाल्मीकि जी पहचान गए कि भगवान नहीं है परम परमात्मा है अब देखते हैं कि भगवान को ऋषि मुनि को पहचान लेते हैं कि भगवान मुनि का अवतार है लेकिन अन्य साधारण लोग जो है वो उनके सौंदर्य से उनकी शक्ति से प्रभावित होते हैं आकर्षित होते हैं दर्शन पा करके भी कृतार्थ होते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ पाते अरे ये तो भगवान ही है ऐसे करके वो लोग नहीं जान पाते लेकिन जैसे वाल्मीकि ने जान लिया तब उनसे कहते हैं भगवान कहते हैं तब हम जाकर के कहाँ बात करें पूछते हैं तो वाल्मीकि कहते हैं कि तुम कहाँ नहीं हो जहाँ हम बता दें कि तुम यहाँ हो खाली जगह पड़ी हो वो हम बता दें कि तुम वहाँ बात करो तुम तो सभी जगह वैसे सर्वज्ञ आती हो जब सर्वज्ञ आती हो तो बात करने का कोई बात ही नहीं सब जगह तो। अभी कहो तो विशेष रूप से कहा बात करो तो फिर उन्होंने भक्तों के हृदय बता दिए जो भगवान की कथा सुनने में प्रेम रखते हैं भगवान के दर्शन चाहते हैं सत्संग करते हैं गौ ब्राह्मण की रक्षा आदि करते हैं इस प्रकार के बहुत से स्थान बता दिए उनके हृदय में आप बात करो अंत में यही वाल्मीकि ने बता दिया कि जिनको हृदय में कोई कामना नहीं निष्काम है उनके हृदय में आप स्थायी रूप से बात करो परमानेंट आप जब चाहो वहां से जरूरती अपनी जरूरत नहीं है वो आपको सब जगह जब तक कहा तब तक रहो तो ऐसे करके सब बता दिए फिर कहा कि अच्छा समय के अनुकूल इस समय आप ये वो हो जाकर के बात चित्रकूट न करो वो सबसे सुंदर स्थान रहेगा तो स्थान बता दिया तो उनके बताए के स्थान के अनुसार फिर भगवान आगे बढ़े और वहाँ चित्रकूट में मुंडा के किनारे फिर भगवान में जाकर के पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने फिर वहाँ पर स्थान तो की और वहाँ पर रहने के लिए बनाई गई मूर्ति बनाई गई और वाल्मीकि रहने लगे तो फिर कहते वाल्मीकि तो मिलन बखाना चित्रकूट के बस भगवाना और फिर भगवान चित्रकूट ने जैसे दास किया वो बताया फिर वहाँ पर निषाद वगैरह वहाँ के आस पास के बनवासी लोग वो सब लोग आए भगवान की सेवा में भगवान को ला करके फल फूल ला करके खिलाने लगे उनकी रोटी वगैरह बनाने में भी उनको सहायता उन्होंने की ये सब कार्य जो लोग बनवासी लोग करते रहे वहां संत लोग महात्मा लोग तपस्वी थे वे सब भगवान के आकर के दर्शन करने लगे भगवान के साथ उनका सबसे का सत्संग होने लगा ये सब जिस चित्रकूट में जिस प्रकार का आधार वो सबका प्रवन कर दिया तो भगवान के तो चित्रकूट में बात करने लगे और इधर क्या हुआ सचिवागमन नगर में तो मरना सबसे जो संबंध आए थे भगवान राम को छोड़ने के लिए संघदेवपुर तक तो से फिर वापस हो गए यद्यपि भगवान के चलते समय उन्होंने बहुत समय ने बहुत कोशिश की कि भगवान राम अब लौट चले वापस लेकिन वो लौटे नहीं तब उन्होंने ये भी कोशिश की कि लक्ष्मण जी सीता जी लौट जाए लक्ष्मण जी लौट जाए और सबको समझाया कि कोई न कोई वापस चले यहाँ से लेकिन तीन में से कोई वापस नहीं हुआ सबके सब चले गए तो सुमंत बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के जब वहां से चलने लगे तो इतने दुखी थे वो दुखी थे और फिर घोड़े कितने दुखी थे उसका भी वर्णन किया कि घोड़े जो है उनकी चलते नहीं जिधर भगवान गए उधर तरफ देख देख करके सुनाते रहते थे तो ऐसे करके उनके ग्रह का वर्णन कर दिया सुमंत्र का भी घोड़ों का भी लेकिन फिर उसने निषाद में अपने भीट करके रथ हाँकने वालों को बचाल करके कहा कि उनसे रख चलेगा नहीं अब घोड़े ऐसे जाएंगे नहीं तुम जाकर के उनको भेजना पड़े ले जाओ तो वे लोग उनको बैठ करके रथ को चलाया तब सुमंत्र कहीं गए जिसके बाद सुमंत्र जब पहुंचे अयोध्या में तो दिन के समय सुमंत्र अयोध्या में घुसने में डर लगे उनको कि लोग बात कहेंगे कि तुम खाली कैसे गए सब लोग दौड़ेंगे पूछने के लिए तो फिर वही पर अयोध्या के बाहर हुई फिर वो ठहरे जब रात्रि हुई अंधेरा हुआ तब वो रथ लेकर के अयोध्या में पहुंचे और फिर जाकर के जहाँ महाराज दशरथ के वहां पर पहुंचे और उनसे जब बताया जा करके जब तो महाराज दशरथ भोग जाते हुए तो सचरागमन और नगर उन्नत सचिदागमन नगर ये होता उन्नत मरना और फिर जब उनको महाराज दशरथ को मालूम हुआ कि भगवान राम लौट करके नहीं आए तो वो बहुत जागर हुए और जागरूकता में दिला करके करते करते करते उनको फसल छोड़ दिया तो फिर उनके शरीर छूटने के बाद सब बहुत दुख छा गया सभी दुख हुए बस इसलिए आए सबको समझाया शांत की फिर वशिष्ठ जी ने दूध भेजे तो घर जाने लगे अपने वहां से उनको बुला भेजा लोग लेकर आए तो का आगमन तो भरत जी फिर जब अयोध्या में आए तो उनका भरत का प्रेम का वर्णन किया कि भरत को जो है वो हो इनके कैसे माँ के द्वारा इस प्रकार के वरदान मांगने का बड़ा दुख उनको हुआ बहुत ज्ञान में हुई और भगवान राम का प्रेम उनके हृदय में जैसा था उसका सबका वर्णन किया तो वो सब भरतागमन और प्रेम का विवरणा प्रेम के मन में भरत के हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम था वो सब बताया कि बहुत दुखी लोग हुए तो कर्ण प्रति आसंग प्रवासी बसी जी ने फिर भरत जी को समझाया और शरीर रखा हुआ था महाराज दशरथ का दान संस्कार नहीं हुआ था तो भरत जी के द्वारा वो सब करवाया गया तो कर्म क्रिया संग प्रवासी तो जब क्रिया हो गई तो उसके बाद से बता हुई फिर एक बार सभा बैठी उस सभा में भरत जी को वशिष्ठ जी ने समझाया कि देखो अब तुम राज्य स्वीकार कर लो और राज्य की व्यवस्था करो भगवान राम ने आए नहीं तुम महाराज दशरथ का भी यही आदेश है पिता का आदेश है तुम्हारा भी धर्म है कि अब पूजा का पालन करो राज्य व्यवस्था ठीक ठाक चले लेकिन भरत जी ने उसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने तो प्रस्ताव यह था कि पहले हम भगवान राम के पास चलेंगे फिर तो जैसा कृष्णसार होगा बाद में वैसा किया जाएगा तो प्रवासियों ने शब्द स्वीकार कर लिया और वशिष्ठ जी समेत समस्त प्रवासी और माताओं इत्यादि को लेकर के तो भरतवीर उनकी सहायता लिए सुखराशि भरत वहां गए जहाँ भगवान शिव की राज भगवान भगवान अब भरत और सब लोग तो बुझे लेकिन जिनको भी बन हुआ उनको कोई दुख नहीं भगवान राम के से बनने गए कैसे वहाँ भी सुखी है और राम राज राज्य उनको मिल रहा था तो वो सुबह से वो भी सुखी थे न राज्य के प्राप्त होने का कोई सुख न राज्य के जाने का कोई दुख हाँ, ये अपने आंतरिक आनंद का सूचक है ये एक बहुत बड़ी बात बता दी कि जैसे जीवन का ये रूप है प्रौढ़ प्रबुद्ध लोग ज्ञानी लोगों का जीवन इस प्रकार का है वो अपने आप इतनी ऊंचाई पर आनंद की स्थिति में रहते हैं कि भौतिक स्तर के ऊपर अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ आती रहती हैं वो चाहे अन्य लोगों के लिए जो सुखदायी सुखदाई बनती है उनका उनके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनसे वो अक्षण रहते हैं बस संसार की सुख दुख तो इस प्रकार के आने जाने वाला संसार है उनको साथ दिखाई देता है ये तो यहाँ पर बनता बिगड़ता रहता ही है जगत ऐसा ही है अधिकारी है परिवर्तनशील है आदि उनके वाला है इसमें इन सब बातों को जब जानते हैं ऐसा ही है ही ऐसा तब उसके लिए क्या दुख करना उसके लिए क्या चिंता करना या उसमें कुछ उपलब्धि हो जाए तो उसके लिए उससे प्रसन्न क्या होना संसार की कोई वस्तु प्राप्त भी हो जाए नक्सर वस्तु होने से तो उनके प्राप्त होने का सुख भी कौन सा सुख है क्या सुख की उसमें बात है क्या दुख की बात उसमें है ऐसी बात समझ करके प्रौढ़ सुजन जन जानते हुए कि मैंने प्रबल लोग जो है इस प्रकार के वे लोग सत्य बात को समझते हैं कि जिनकी बुद्धि निचोर है और है ज्ञानवान है वे संसार के नीचे स्तर की जो सुख दुख आदि है उनसे जागरूक नहीं होते ये भगवान श्री राम जी ने अपने चरित्र के द्वारा लोगों को दिखाया भगवान राम से प्रकृति बात कर रहे हैं जबकि अन्य लोग दुखी अरे भगवान राम दर में बात कर रहे हैं बड़े परेशानी होंगे बड़े दुखी होंगे बड़े कष्ट काम कर रहे होंगे उस समय देवी चित्रकूट में भगवान बड़े प्रसन्न है आनंद से बात कर रहे हैं चित्रकूट ये कहते हैं इसलिए कहते हैं भरत गए जहाँ प्रभु चित्राशी और पुनर्घुपति बहु दीदी समझाए और उसके बाद फिर वहाँ जल्दी सब लोग पहुंचे तो कई दिन तक वहाँ ठहरना हुआ उसी समय जनक जी भी वहाँ आ गए कई बार सभाएं बैठी सबने अपने अपने प्रस्ताव रखे कि क्या किया जाए भगवान श्री राम जी को कैसे लौटाया जाए अनेक विभिन्न विकल्प सोचे गए कि भर जी बनने चले जाए शत्रुघ्न के साथ चले जाए या लक्ष्मण जी बनने चले जाए भगवान राम लोग आवे इनके बदले में ऐसा हो जाए उसके बदले में ऐसा हो जाए लेकिन वो कोई विकल्प काम नहीं दिए अंत में भगवान राम ने भरत को समझाया कि देखो हमारा काम है धर्म की रक्षा और इसमें तुम भी सहायता करो तुम भी धर्म के मार्ग पर चलो और हमको भी चलने दो इसी में तुम्हारा भी कल्याण हमारा भी कल्याण और सारे संसार का है जब हमको भी देखेंगे तुमको भी देखेंगे सब धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो और लोग अयोध्यावासी सारी दुनिया के सभी लोग देखेंगे कि धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है कष्ट सहन करके भी धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए तब तो लोग चलेंगे और नहीं तो जहाँ सब तकलीफ हो गई वहाँ धर्म छोड़ बैठेंगे तो ऐसे धर्म की रक्षा होगी नहीं ये सब भगवान ने उनको समझा दिया तो भरत जी की बात समझ में आ गई और फिर वो भगवान की पादुकाएं लेकर के लय पादुका अवध आए भरत जी भगवान जी का अनुपालिकाओं लेकर के वहाँ से अयोध्या लौटा है बड़े आदर पूर्वक बालिकाएं लेकर के सिर पर धारण की और वो ला करके अयोध्या में उनको सिंहासन पर हुई बालिकाओं को स्थापित किया और उन्हीं की आज्ञा मान मान करके भरत जी वहाँ राज्य की व्यवस्था करने लगे भरत राम सर्वप्रतिशत कर्मी फिर अयोध्या में भरत जी कैसे रहे उसका भी वर्णन किया भरत जी का अयोध्या में रहना भी कर्णनीय बात उसको पत्नी बात एक ये है कि भरत जी वहाँ पर अयोध्या में राज्य सुख नहीं भोगते जैसे भगवान राम बन में रह करके तपस्या कर रहे हैं ऐसे ही भरत अयोध्या में रह करके उसी प्रकार से दृश्य भाव होकर के नंदी ग्राम में उन्होंने अपना एक कुटी बना ली है और वहाँ पर ही रह करके एक बार भोजन करते हुए भूम पर सहन करते हुए बलकर वक्त पहनते हुए जटाएं वाहन किए हुए रहते हुए फिर शासन व्यवस्था की शासन का कार्य उनको सौंपा गया वो किया जरूर लेकिन रहे ऐसे जैसे भगवान बन में रहते हैं वैसे ही रहे तो खुशी बात ने दोनों को कंपेयर नहीं किया तो देखो कि कौन ज्यादा तपस्वी है कौन बड़ा त्यागी है तो कहते भगवान राम से ज्यादा त्यागी तो भाई जी हाँ? कि जहाँ आस पास सब सुख साधन उपलब्ध हो वहां भी उनका भोग न करे उनसे निग्रह रहे चंचरी की दिन चंचल भागा ये उदाहरण देकर के बताया कि देखो जहाँ पर के चारों तरफ बहुत ही सुख संपत्ति सब राज्य को उपलब्ध है और अयोध्या से वो सुख संपत्ति वो भौतिक सुख जो इंद्र को भी उपलब्ध नहीं है वो भी उससे भी ज्यादा यहाँ वैभव है अयोध्या का लेकिन भरत जो है उससे विरक्त है उनके मन में रंग से बात करके उसमें आसक्ति नहीं है उससे बिल्कुल दूर रहते हैं उनके भोगों में प्रवर्तन ही नहीं होते हैं तो इसलिए भरत का भरत रहने ये उनके रहने की स्थिति का भी वर्णन किया अंत में रहने का धन उनका गर्भ चित्रकूट में आ जाते हैं कथा यहाँ का प्रारंभ हुई कि चित्रकूट में फिर भगवान श्री राम जी जो है एक बार बैठे हुए स्फटिक खिलाकर सीताजी का संगार एक दिन किया उन्होंने उसी समय स्वरूप शुद्ध को मैंने जयंत आ गया और उस जयंत ने देखा करे ये कहते भगवान है लोग कहते भगवान ने अवतार लिया भगवान भगवान उनको कहते हैं ये तो ऐसे भी लाइन कर रहे हैं जैसे कि कोई संसारी उनसे करता है तो उनकी परीक्षा लेने के लिए आकर के उसने सीता जी के पैरों में संस्कार करके उसको निकाल दिया जब भगवान ने देखा कि उसने इस प्रकार किया तो उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया वैसे तो, तो भगवान अपनी माधुरी लीला कर रहे थे और उसी समय जब वो आ गया तो कहा कि केवल ऐसे में समझा तो ही तो क्या उन्होंने भगवान ने सी पीठ का एक पाँव कुछ मार दिया उसको और वो पाँव उनके पीछे लग गया ब्रह्मास्त तो की तरह से जहाँ से वो भागता गया को कहीं से विश्राम नहीं मिला उसके पिता ने तीस में भी उसको अपने आप कर देंगे और की बहुत क्या था आश्रम बात नहीं हुई नारद जी ने समझाया करी जाओ तुम भगवान की सन में जहाँ चिंता जी बाहर गई तुम्हारी तो रक्षा करेंगे तो लौट करके जब भगवान के सामने आया तो भगवान ने उसकी अब वो अस्त्र जो था वो तो किसी न किसी काम आने चाहिए जो कुछ उन्होंने चलाया था ये नियम है का कि दान जहाँ या अस्त्र चले वो तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रयोग में आना चाहिए छूटा न है जिन अमोघ रघुपति कर पाना यह प्रसन्न अमोघ है मैंने अमोघ में झूठा नहीं जाता है तो उसका क्या हो तो फिर कहा कि तब इसकी एक आंख और दोष की आंख में ही दोष था इसलिए चलो दोनों नहीं तो कम से कम एक आंख से काम ले एक आंख छोड़ दो तब से कहते कौए की एक ही आंख होती कालजी ने पंचपति में दिया है कि कौआ जो इधर देखता है और उधर देखता है तो घुस्से घुमा घुमा के देखता है उसके आंख पर गोला एक ही होता है सबके आँख के दो होते हैं तो जब इधर से देखना होता है तो गोला इधर आ जाता है जब इधर से देखना होता है तो गोला इधर आ जाता है बाकी इस प्रकार के कौए की एक ही गुलत होता है तो ये कहते हैं सोच उसके आंख जब खोल दी थी और उसकी कथा जयंत जी इस प्रकार के सुनाई और फिर प्रभु आराधना के बन पाएंगी तो भगवान महाकृष्ण और बात किए तब तक संत महात्मा लोग दूर दूर के सब आकर के बहुत इकट्ठे होने लगे देवता लोग भी आने लगे कितने लोगों बहुत भीड़ होने लगी तो फिर भगवान ने स्थान छोड़ करके चले गए और कहा कि चलो आगे करना चाहिए किसी बन में रहे तो किसी दूसरे बन में आप जाते हैं एक बन के दूसरे बन दूसरे बन के दूसरे बन की यात्रा करने के लिए भगवान को वहां से चल दिए तो पहले अपनी वहां के चित्रकूट के जो मुख्य ऋषि थे मुनि थे जो अगस्त मुनि थे तो उनसे विदाई के लिए उनको स्वीकृति मांगी तो उनके पास गए प्रभु और प्रभु की पूरी करेंगे तो अटल जी ने फिर वहाँ उनको जाने के लिए स्वीकृति दी और वहाँ अनुसैया थी उन्होंने सीता जी को उपदेश दिया अपने मन में भगवान की वंदना की ये सब हुई उसके बाद वहाँ से विदा लेकर के भगवान जब आगे चले और रास्ते बन में जब होकर के घने बन में होकर के जा रहे थे तो कई विराज बद जल्दी भी देह कभी सरभंग तो पहले विराज मिल गया उसको विराट को भगवान ने मारा के अनुसार वो इस प्रकार का था कि उसको इस प्रकार का वरदान था कि वो अस्त्रों से नहीं मर सकता तो भगवान ने उसको बिना अस्त्र के ही मारने की युक्ति निकाली और निकाल करके फिर उसको पहले मारा विराट को तब आगे बढ़े विराट बद पंडित भगवान चलाता भगवान राम क्या है विराट बद पंडित मैंने पंडिताई से मारा अस्त्र से नहीं मारा मैंने उन्होंने तरीका युक्ति निकाली कि कैसे उसको मारा जाए बिना अस्त्र को भी मारना है तब कैसे मारा जाए तो उसका उदाहरण विराट है कई विराज गति गई ऋषि देह कभी सरभंग आगे पहुंचे तो एक ऋषि सरभंग ऋषि थे जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने भगवान के दर्शन किए बहुत प्रसन्न हुए भगवान को वंदना की और हम उन्होंने उनसे भगवान मांगा भगवान से कि हम हमारा जीवन काल तो बहुत पहले समाप्त हो चुका था लेकिन जब हमको बताया गया कि आप इधर से आने वाले हैं तब हम अपने शरीर को किसी प्रकार धारण किए गए अब आपके दर्शन हो गए इसलिए हम शरीर छोड़ना चाहते हैं थोड़ी देर आप यहाँ रुको बस दस पांच मिनट की बात है बस हम शरीर छोड़ने क्या करेगा तो तक उन्होंने एक चिता भी इकट्ठी की लकड़ी लकड़ी इकट्ठी की और उसके ऊपर बैठ करके उन्होंने अपनी योग शक्ति से शरीर प्राप्त करके वे चल गए तब कहा भगवान को उसके बाद उनको सर्वण को तो छोड़कर शरीर पा करने की बात चले तो सर्वण भगवान के सामने देखते देखते उनको दर्शन करते करते उन्होंने अपना शरीर प्राप्त किया तो देखो कैसे कैसे विचित्र विचित्र लोग हमारे घर के लोग नानाविध होते हैं विभाजित कविता कौन था एक कोई नहीं था मेरे जरूर सकते हैं जो भी छात्र होते छात्र होते तो सबके उद्धार के तरीके अलग अलग हैं जीवन का तरीका अलग अलग है सब भगवान के भक्त सब ज्ञानी है सब भक्त हैं लेकिन सब एक समय तो देव सभी प्रधान हरण सुतीक्षण प्रीत पुण्य आगे के बड़े सुतीक्षण मिल गए सुतीक्षण मिल के भगवान के बड़े भक्त थे ये ऐसे कृष्ण से थे और अगर पेट का नहीं आगे था इधर आश्रम था इनका सुदीक्षण मुनि का तो सबसे पहले भगवान सुदीक्षण मुनि के पास पहुंचे अब गुरु और शिष्य में देखो संबंध देखो तो भगवान पहले शिष्य को पहले मिल गए और फिर जो है गुरु को मिले बाद में जाकर के उनसे अगस्त को बाद में मिले अगस्त ऋषि ने जब सुदीक्षण उनको शिक्षा दी दीक्षा दी तो उन्होंने सुदीक्षण में उनके गुरु जी कहा कि भगवान अब हम आपको दक्षिणा क्या दें जो बताइए वो दें तो वो क्या दें कुछ नहीं कहने को तुम दक्षिणा का क्या देंगे बहुत उन्होंने कहा पता तो अच्छा ऐसा करो तो हमें भगवान के दर्शन करा ये गुरु जन्म कृष्ण से पता